नवी हदीस जो भी खुदा की किताब का एक खत पढ़ता है इसे इक्कीस की तरह की नेकी और नेकी है और मैं ये नहीं कहता दर्द एक खत है लेकिन वो जो वर्ड है